हम लोग गीता ज्ञान यज्ञ के उपलक्ष्य में ग्यारहवें अध्याय को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं अभी तक अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी भगवान आपका जो विभूति और योग है उसको मैं देखना चाहता हूं भगवान ने दिव्य चक्षु देकर उसको दिखलाया और उसके बाद अर्जुन ने उस रूप का वर्णन किया क्योंकि उस रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया तो वर्णन करते करते अर्जुन अठारहवीं श्लोक तक आ गए भगवान ये सारा जो कार्य है आपके विभूति है उसको देखते हुए मैं ये अनुमान करना कर रहा हूँ क्योंकि आप ही अक्षर है परम अक्षर है और जानने योग्य एक ही तत्व आप है सारा विश्व का निधान अर्थात आश्रय है अधिष्ठान है सत्ता प्रदान करने वाले और आप अव्यय है अविनाशी है और अनादि है सनातन है और सनातन पुरुष आप है ऐसा मेरा मत है अर्जुन ने अपना अभिप्राय प्रकट किया इस विभूति योग को तो आगे बता रहे उन्नीसवें श्लोक में और भी अनादि मध्या अनंतम गया समास हो गया आदि मध्य अनंत न आदि इति अनादि आदि से रहित है ऊपर भी एक बार बताया था पुनः बता रहे हैं अनादि का मतलब आदि रहित और मध्य है यहाँ भी आ लगा दीजिए मध्य से रहित तो आपका आदि भी पता नहीं मध्य भी पता नहीं तो अनादि मध्य और अनंतम अंत भी पता नहीं तीनों के साथ आ लगा दीजिए तो आदि मध्य अनंत से रहित है आप अनंत अनंत वीर्यम आपकी सामर्थ्य है अनंत है इतनी सामर्थ्य है इतनी सामर्थ्य है वर्णन ही नहीं कर सकते अनंत सामर्थ्य अनंत बाहु आपके बाहु है भुज है ये भी अनंत है शशि सूर्य नेत्र आपके नेत्र है एक नेत्र के द्वारा तेज प्रकट हो रहे और दूसरा एक नेत्र है भक्तों के प्रति आप शीतल कर रहे चंद्रमा नेत्र के द्वारा इसलिए दो नेत्र है शशि सूर्य नेत्र ऐसा आपको त्वाम पश्यामी हे भगवान मैं आपको देख रहा हूँ विलक्षण रूप दीप्ता हुताशवक्त्रम देवता का मतलब अत्यंत प्रज्वलित देदीप्यमान जैसा जिस अग्नि में अधिक ईंधन डालने से वो अग्नि देदीप्यमान होती है प्रज्वलित हो जाती है ऐसा जो दीपता हुताश बोल तो अग्नि तो अत्यंत प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले है तो दीप्त हुताश स्वतेजस विश्व इदम तपंतम इदम विश्व ये जो विश्व है चराचर जगत इस सारा जगत को आप तपन तम तपा रहे अर्थात आप ही इसको तापायमान अर्थात उसमें उष्णता प्रदान कर रहे तपा रहे मां अर्थात प्रकाशित कर जैसा सूर्य जगत को तपा रहे सूर्य जो तपा रहे वो अपना ताप के द्वारा अपने प्रकाश के द्वारा नहीं तमेव भांतम अनुभाति सर्वम श्रुति बता रहे मुंडकादि उस परमात्मा के प्रकाश से परमात्मा के सत्य के द्वारा ही सूर्य जगत को प्रकाशित कर रहे स्वतः नहीं क्योंकि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र का सूर्य प्रकाशित कर सकते हो न चंद्र तारक है ना अग्नि है तो उसी के प्रकाश के द्वारा ये जड़ प्रकाश भी प्रकाशित हो रहा है इसलिए बता रहे स्वतेजसा अपना ही तेज है स्वयं प्रकाश है सूर्यादि में जो प्रकाश है वो पर प्रकाश है आगंतुक है वो प्रलय काल में नहीं रहेगा इसलिए बता रहे स्वतेजसा अपने ही जो तेज है इसे सारे विश्व को तापायमान करते हो अर्थात प्रकाशित करते हो तपा ये सारा ये मैं तेज करा हूँ और भी बता रहे अर्जुन विश्व श्लोक ध्यावाम इदम अंतरम इदम अंतरम अर्थात इनके बीच में किसके व्यावा और पृथ्वी जो लोग और पृथ्वी लोग तो जू शब्द से लेना यहाँ स्वर्ग लोक भूर हुआ स्व तो स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक तो पृथ्वी को माता माना है और जू को पिता माना तो पिता और माता के बीच में स्वर्गलोक और पृथ्वी के इदम अंतरम इन दोनों के बीच में भी आप ही व्याप्त है तो दोनों के बीच में जो आकाश है अर्थात अवकाश दे रहे सबको वो जो अवकाश रूप से आप ही व्याप्तम व्याप्त तो फैला है त्वया दिशश्च सर्वः दिशश्च ये दोनों के बीच में जो लोग और पृथ्वी के बीच में आकाश और सारे दिशा है त्वय एक अर्थात आप जो एक तत्व है उसके द्वारा ही है और दिशा भी वास्तव में हाई में आप ही व्याम कर सर्वत्र सर्वदिशा त्वयेन तो व्याप्ति दृष्टवा अद्भुत अद्भुत रूपम उग्रम तव रूपम दृष्टवा वाहन में आपका ये रूप को देखकर कैसा रूप है अद्भुतम ये दूसरा उपक्रम दो विशेषण एक तो अद्भुत रूप है अद्भुत का मतलब आश्चर्यजनक आप बता नहीं सकते उसको अद्भुत उसको कहते हैं वाणी के द्वारा बता नहीं सकते देख रहे किंतु बता नहीं सकते ऐसा अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक है और दूसरा बता रहे उपग्रम उग्र का मतलब अत्यंत भयंकर क्रूर है ऐसा तवा रूपम दृष्टवा ये आपका रूप को देखकर स्वरूप को देखकर लोकत्रयम तीनों जो लोक है पूर्वा स्व प्रव्यजितम प्रव्यजित मतलब प्रकृष्टेना व्यतीत है सारे व्यतीत हो रहे कंपित हो रहे भयभीत हो रहे अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं महात्मन ये संबोधन है हे महात्मन आपका ऐसा रूप को देखकर ये तीनों लोग है चिंतित हो रहे व्यतीत हो रहे कैसा है रूप सारा जगत को भी कवलित करेगा नष्ट करेगा इस प्रकार चिंतित हो रहा है तो यहाँ तक बताने के बाद तो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था अब लोगों ने श्रवण किया है छठवे श्लोक में न चेतन विद्मा कदनो करो यद्वा जय मा यदि वो न जय तो उन्होंने बताया कहा न चेतन विद्मा ये मैं नहीं जानता मुझे क्या श्रेष्ठ है युद्ध करना अथवा नहीं करना या तो हम जीतेंगे अथवा दुर्योधना जीतेंगे ये भी पता नहीं ये अर्जुन ने <clears throat> दूसरे अध्याय के छठवे श्लोक में अपना उद्गार प्रकट किया था उसका निर्णय यहाँ भगवान दे रहे हैं घबराओ मत तुम ही जीत जाए क्योंकि भगवान ने सबको पहले अपने अंदर समेट लिया है ये भी अर्जुन देख रहे हैं उसी प्रश्न को माध्यम बनाकर उत्तर रूप से अर्जुन के सामने आ रहे वही अर्जुन बना रहे हैं इक्कीसवें श्लोक अमी ताम सुरसंग विशंति सुरसंग सुरा मतलब देवगुण के संग अर्थात समुदाय एक नहीं सारे देवतों का समुदाय अमी ही सुरसंग वहां में वे जितने भी सुरसंग है तो आम विशंति आपके अंदर प्रवेश हो रहे कैसा प्रवेश हो रहे आगे बताएंगे दृष्टांत के द्वारा जैसा पतंग है निरंतर अपने मृत्यु रूप अग्नि की ओर प्रवेश हो रहे अथवा सारे नदियों का जल है निरंतर समुद्र की ओर प्रवेश हो रहे ऐसा ही ये सारे आपके अंदर प्रवेश हो रहे आगे बताएंगे तो सुरसंग अभी सुरसंग विशंति रूप प्रवेश और और कुछ इतने भयभीत हो रहे भयंकर क्या करे क्या नहीं करे भूल गए इतने भयभीत और केचित प्रांजलयो गृहणाती और कुछ लोग हाथ जोड़ करके बिल्कुल खड़े हैं स्तुति भी नहीं कर रहे हाथ जोड़ करके खड़े कभी कभी होता है आश्चर्य कोई व्यक्ति को देखने पर हाथों जोड़ते हैं और स्तुति नहीं करना जैसा ध्रुव जी ध्रुव के सामने भगवान प्रकट तो हो गए थे भगवान को देख कर प्रभु हाथ जोड़ करके केवल देख करके क्या बोलू पता नहीं तो भगवान ने केवल शंख स्पर्श कर दिया उतने में यौन तब प्रविश्य मम वाच विनाम प्रभुत्तम स्तुति करने लगे तो वैसे ही यहाँ कुछ लोग अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके प्रांजल योग विनती और बड़े बड़े कुछ महर्षि योगी लोग साधक लोग स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धत्रवाः स्वस्ति न इस प्रकार उसके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघः महर्षि भी है और सिद्ध समुदाय स्तुवन्ति वो स्तुति कर रहे हैं वो भी छोटी मोटी स्तुति नहीं है पुष्कला भी स्तुति है पुष्कल कहते पर्याप्त आधा एक श्लोक नहीं इतने स्तुति कर रहे इतने स्तुति कर रहे पर्याप्त स्तुति इसीलिए पुष्कला भी स्तुति भी स्तुवंती तो पर्याप्त स्तुति के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे स्वस्ति के द्वारा भगवान ये सब मैं देख रहा हूँ और देख करके आश्चर्य भी हूँ और आनंदित भी हो रहा और भी बता रहे हैं अर्जुन बाईसवें श्लोक में रुद्र आदित्य वसु एच साध्या ये पहले बताया था एकादश रुद्र द्वादश आदित्य अष्टादश वसु देवतों में एक विशेष है गण है और एक विश्व देव होते हैं यज्ञ में जो आते हैं विश्व देवा और दो अश्विन है और गण मरुता बोल दो मरुत गण च ऊष्म पाश्च बोल दो और ऊष्म जो उष्ण भोजन करने वाले तो उष्ण भोजन करने वाले कौन होते हैं पिता है ऐसा वायव्य पुराण में कुछ संकेत दिया है देवलोक से आए हुए जो है जीव उनके क्या लक्षण है पितरलोक से आए हुए जो है उनका लक्षण बताते यदि किसी को बहुत उष्ण भोजन करने का ही प्रकृति है अधिष्ठन संकेत दे रहे वो पितर लोग से आया है क्योंकि पितरा है उष्म पाशा उष्म बोल तो उष्ण आदि भोजन खाने वाले पितरा ये पितर भी है गंधर्व गंधर्व का अर्थ किया था देवता में एक जाति विशेष है संगीत गाने वाले और उसी में जाति विशेष यक्ष है जैसे कुबेर आदि धनाधिपति तो यक्ष सुरसिद्ध संग तो ये जो सिद्ध समुदाय में भाष्यकार ने कहा यहाँ तो उन्हें गंधर्व हा हा हो इत्यादि गंधर्व माना जाता है इनका नाम है हा हा हो ये गंधर्व है और यक्ष मतलब कुबेर असुरसिद्ध संग असुर बोल तो विरोचन है प्रहलाद है ये सब असुर लेना और सिद्ध संग असुर सिद्ध संग अलग कर देते असुर हो गए प्रहलाद है विरोचन है बलिया और सिद्ध संग मतलब सिद्धा नाम कपिलो बताया था पीछे ऐसा कपिला ऋषि वीक्षण दे ये सब आपको क्या है वीक्षण से वो तो देख रहे आपके अंदर है आपको देख रहे कैसा ऐसा नहीं सर्वे विस्मित आश्चर्य ये जितने भी है बड़े बड़े ऋषि हो यक्ष हो गंधर्व हो देवता है ये सभी आश्चर्ययुक्त हुए अचंबित होकर आश्चर्ययुक्त होकर आपको देख रहे भगवान ये दृश्य मैं भी देख उसके बाद पुनः बता रहे अर्जुन तेईसवें श्लोक में रूपम महत्ते ते रूपम महत ते मतलब तवा आप रूप है अति महान है महान का मतलब अपरिचिन्न है इतना व्याप्त है इतना व्याप्त है वहां तक मेरी दृष्टि जा ही नहीं सकती इसलिए ते रूपम महत्व बहुमता पीछे बता दिया था उसे कोई आत्म भाव भाव होकर दोबारा बता रहे जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत भावुक हो जाता है रोंगटे खड़े होते एक ही वचन को बोलने लग जाते इसलिए बोले बहुवक्ता अनेक मुख नेत्र बहुनेत्र अनेक नेत्र हे महाभाव संबोधन है आप तो महाभाव है श्रेष्ठ है विलक्षण है बहुबाहु आपके अनेक भाव है अनेक भुजा है बहुबाहु और उरु और पादा जंगे भी अनेक है पैर भी अनेक है सारे में देख कर हूँ पेट भी अनेक है सारा पेड़ भगवान के क्योंकि अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधा वही भगवान ही बचा रहे वैश्वानर इसलिए जो हम भोजन करते हैं भोजन में ये आहुति माना है जटराग्नि में जो बैठा है वैश्वानर अग्नि है उसको आहुति दी जा रही क्योंकि प्राण की आहुति माना है तो इसलिए भोजन से पहले जैसा मान लीजिए आपके कोई घर में आ गए भोजन तो दे दिया जल नहीं दिया तो क्या होगा जल भी आवश्यक होता है तो इसलिए प्राण का जल वस्त्र माना है भोजन तो किया आपने प्राण को भोजन पहुंचा दिया किंतु यदि जल नहीं दिया वो प्राण नग्न माना जाता है इसलिए प्राण को अनग्नता करने के लिए बृहदारण्य को उपनिषद में कहा गया दो बार आज भोजन से पहले और भोजन के बाद इसलिए देखिए महात्मा का भंडारा होता है बड़े तो बड़े बड़े बड़े भंडारे में पहले नहीं खाते नमक पार्वती के बाद आज पान करते और अंत में पुनः और नमक पार्वती के बाद दोबारा आज पान करते बीच में नहीं करना चाहिए यदि पंगत चल रही बीच में भी किसने आज पान किए पंगत झूठी मानी जाती तो ऐसा पुराण में एक प्रकरण आता है अगस्त ऋषि है कुंभज है उनका उदर कभी तृप्त नहीं होता है इसलिए कहा दिया शांत ये भोजन किसी को बचाना हो अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनि च का आहारा परिपाकारता भीमम स्वरे पंचकम ये पांचों का नाम लेके उदर में घुमाए तो भोजन बच जाता है तो अगस्त ऋषि अन्न भोजन के पास गए और कहा माँ मुझे भिक्षा खिलाओ तो उन्होंने ठीक भिक्षा खिलाऊंगा आप कितना खाएंगे मुझे पेट भर के खिलाना है अन्नपूर्णा का तो भंडारा ही है कभी कम नहीं होता है क्योंकि शंकर जी को खिलाती तो बैठ गए अगस्त अगस्त से अन्नपूर्णा परोसते गए वो खाते गए खाते गए खाते गए तृप्त हो गए तो अन्नपूर्णा अभी सोचने लगी क्या करें ये तो खाते ही जाना है थक गए तो शंकर जी के तरफ से देख लिया शंकर जी समझ गए कि अन्नपूर्णा कोई परिस्थिति ऐसी आ गई इसको बचाना है ब्रह्मचारी का रूप धारण किया उन्होंने भी आगे बोलिए मैया मुझे भी खिलाओ तो ना बोलता ठीक है बैठो अगस्त ऋषि के पहले बैठ गए तो ब्रह्मचारी को खिला दिया थोड़ा खाने के बाद उन्होंने आँच बंद की तभी ऋषि ने कहा कैसा ये ब्राह्मण पंगली झूठ के झूठा किया अभी मैं भोजन दे दूंगा उतने में भगवान शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए अच्छा भगवान आपका ये नाटक है माता जी को बचाने के तो कहने का तात्पर्य ये है जब तक पंगज चल रही है पूर्ण नहीं हुआ बीच में आँच बंद नहीं करना झूठी मानी और अंतिम में जो हो गया उसके बाद सबको अर्पण करना तो कहने का तात्पर्य प्राण का वस्त्र माना है तो हम आहुति दे रहे जटदाग्नि को प्राण इसको ऋत्विक माना है ब्राह्मण ये अंगुलिया नहीं है इन अंगुलियों के द्वारा प्राण को आहुति दे रहे हैं तो ये जो प्राणाग्नि है उसकी उपासना मानी जाती है बैठे बैठे उपासना हो रही अन्न का जितना भी दोष है इसे निवृत्त माना है यदि संभव है मंत्र याद है एक एक आवृत्ति देते सभी मंत्र बोल सकते हैं मन ही मन इंद्राय स्वाहा अथवा जो गुरु जी ने दिया हुआ मंत्र है उसी मंत्र के द्वारा देते रहे अन्न का सारा दोष निवृत्त माना जाता है तो इसलिए यहां बता रहे हैं तो बहुत धर्म बहुधर्म मतलब सबके पेट में वही वैश्वानर बन के खा रहे इसलिए अनेक पेट है बहुत और बहुत से दाढ़े है दाढ़े का एक विशेषण है कैसा करालम कराल कहते हैं भयंकर अत्यंत विलक्षण दाढ़े तो विलक्षण बड़े बड़े जो दाढ़े है देख करके भयभीत हो जाए कला करालम दृष्टवा ऐसा आपका रूप को देखकर लोक प्रवृत्त लोक बोलो रहे सारा लोक है सारे प्राणी है प्रवृत्त भयभीत भय से व्याकुल हो रहे काम पर कैसा विलक्षण रूप है बड़े बड़े दाड़े हम लोग को खाए तो ना इस प्रकार सारा व्याकुल हो रहे तो उतने में जिज्ञासा हो सकती सारे लोग डर रहे हैं आप नहीं डर रहे तो बोले तथा अहम अर्जुन बोले मैं भी डर रहा हूँ सारे लोग ही डर रहे ऐसी बात नहीं है मुझे भी भयभीत हो रहे कि मेरा मित्र है मेरा गुरु है ये भी पता नहीं क्योंकि गुरु था ना भी तक मित्र था ये मित्र है गुरु है मैं भूल गया मैं भी डर रहा हूँ तथा अहम भी प्रकृति का सारा लोग भी भयभीत हो रहे व्याकुल हो रहे साथ साथ में मैं भी भयभीत हो उसमें यह कारण बता रहे भयभीत का कारण एक ये बता रहे के श्लोक में दीप्तम नभ मतलब आकाश आपका जो दीप्त का मतलब है अकुल तेज है नवह त्रिशम नभः मतलब तो आकाश को स्पर्श कर रहा है अर्थात ये जो तेज है प्रकाश है आकाश को भी पार करके प्रकाशित कर रहा है त्रिशम का मतलब मानो स्पर्श कर रहे स्वर्ग अनेक वर्णम और अनेक वर्ण वाले भिन्न भिन्न है भाष्कर जी बता रहे भयंकर नाना संस्थान यशमिन त्वाम अनेक अनेक वर्ण का मतलब अनेक भयंकर आकृति वर्ण का मतलब है आकृति स्वरूप भिन्न भिन्न स्वरूप है भिन्न भिन्न आकृति है उसको देखकर भयभीत होते हैं और दूसरा एक भय का कारण है व्यात्तानम व्याप्त आननम यश व्याप्त कहते खुला हुआ जैसा मान लीजिए जंगल में जा रहे यदि शेर सीधा जा रहे आप इतना भयभीत नहीं होंगे यदि मुंह खोल के सामने आ रहे तो आप इतना डर जाएंगे क्योंकि मुझे खाने ही आ रहे थे उसी प्रकार व्याप्तम बोल तो विस्तृत फैला हुआ आनंद कहते मुख ऐसे जो खुला हुआ फैला हुआ मुख और दीप्त विशाल नेत्रम दीप्त का मतलब अत्यंत अग्नि के समान प्रदीप्त बड़े बड़े नेत्र है उसको देखकर सारे भयभीत हो रहे दृष्टवान है अनेकवर्ण व्यानन दीप्त विशाल नेत्र दृष्टवा देखकर त्वाम दृष्टवा आपको देखकर ऐसा आपका स्वरूप को देखकर प्रव्यचित अंतरात्मा अंतरात्मा प्रव्यचित यहाँ आत्मा बोल दो प्रव्यचिता प्रभेद अंतरात्मा मनोयश्य बौद्ध समाज है अर्थात अत्यंत भयभीत हुआ अंतकरण वाले व्यक्ति या आत्मा शब्द से लेना नित्य आत्मा पहले भी एक बार बताया था मुख्य आत्मा गौणात्मा मिथ्यात्मा जहाँ बिल्कुल भेद है वहाँ आत्मशब्द प्रयोग होता है गौणात्मा पुत्र अथवा सेवक है पुत्र अलग है पिता अलग है किंतु पुत्र को बोलते हैं मेरा आत्मा है वो गौणात्मा शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दृष्टा है दो अलग होने पर जहाँ एक भाव होता है अनात्मा में आत्मा बुद्धि शरीर है अंतकरण में जो आत्मा बुद्धि हो रहे ये मिथ्या है और दृष्टा है उसमें आत्मबुद्धि होती है मुख्य आत्मा है इसलिए यहाँ जो बता रहे आत्मा है अंतकरण कौन सा अंतकरण अत्यंत भयभीत अंतकरण वाला होना मई अहम अध्ययन कर दीजिए धृतिम न विंदा में धृति बोल तो धीरज साहस धैर्य इतना धैर्यवान है धीरज मई हूँ किंतु मैं धैर्य को खो गया अभी तक मानदाता है मेरा मित्र है गुरु है उनके सामने ही मैं धीरज खो गया शमम चाह ना मिलना और जो केवल धैर्य को प्राप्त कर रहे बात नहीं शम वक्त उपशमा शांति है मन की जो शांति है तृप्ति है वो भी मैं शांति को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ भयभीत तो हुआ व्यक्ति शांति कहाँ से प्राप्त करेंगे द्वितीय वही भयम भवती और जब तक अद्वैत स्वरूप में स्थित नहीं होगा तब तक शांति नहीं हो सकती शांति का भी वहाँ भगवान भाष्यकार ने भेद किया है उत्तमा मध्यमा अदमा अदमश्च भेदा चतुर्भेदा उत्तम शांति मध्यम शांति अधम शांति अधमाधम शांति ऐसा भेद किया सर्वदर्शन संग्रह इसलिए शमम अभी नामिंदा में हे विष्णु संबोधन है आप तो विष्णु है विष्णु का मतलब है शंकर चक्र गदा पद्मदान नहीं लेना वही विविष्टि इति विष्णु व्यापकत्वादि विष्णु सभी में जो व्यापक है सर्वत्र है ऐसा विष्णु है इसलिए हे भगवान हे विष्णु मैं धैर्य और शांति को नहीं पा रहा हूँ ये आपका रूप को देखकर क्योंकि आगे बता रहे पच्चीसवें में करालानी च ते पीछे भी बताया था पुनः बता रहे दंष्ट्रा बड़े बड़े दाड़े से युक्त कराल हो तो भयंकर कौन दंष्ट्रा बड़े बड़े भयंकर जो दाड़े हैं ऐसा जो आपका मुकान दृष्टवा मुख को देखकर और वो कैसा हो काला अनलह संधिमानी मुखानी तो विशेषण है काला अनला प्रलय काल की अग्नि के समान अनल कहते अग्नि काल अनल मतलब प्रलय काल की जो अग्नि है उस अग्नि के संगी भाने को तो सदृश मुकामी ऐसा मुख को देख कर और दिशा न जाने ये पूर्व है ये पश्चिम है दक्षिण है दिशा भूल गया मान लीजिए कोई व्यक्ति भयभीत होता है जंगल वो भी दिशा भटक जाता है दिग्भ्रम हो जाता है वैसे ही अर्जुन को भी दिग्भ्रम हो गया कौन सा दिशा पूरब है पश्चिम है कुछ पता नहीं इसलिए दिशा न जाने न लगे शर्मा शर्मम सुखम शर्म का मतलब है सुख और जो सुख है आनंद है उसको भी नहीं प्राप्त कर रहा हूँ भयभीत हूँ प्रशील देवेश जगन निवास दो संबोधन है हे देवेश हे देवतों का ईश्वर तो सबको शासन करने वाले अपना इतना उग्र रूप है उससे प्रसीदा मतलब प्रसन्न हो जाओ अपना उग्र लोग को समेट ले जगन्निवास हाँ, दूसरा संबोधन है सारे जगत में निवास करते हैं सभी जगत में वो तब हो ये अथवा जगत जिसमें निवास करते दोनों अर्थ कर दीजिए सारे जगत में भी आप निवास करते हैं केन रूपेण अष्टिभाज प्रिय रूपेण अधिष्ठान रूपेण अथवा सारा जगत जिसमें स्थित है अध्यस्त है दोनों अर्थ कर दीजिए इसलिए आप निवास में हे निमेशा प्रसिद्धा प्रसन्न हो जाइए प्रसन्न हो जाए उसके बाद जिन शूरवीरों से मुझे पहले ही पराजय की आशंका थी अर्जुन को केवल कर्ण से थोड़े आशंका थी और किसी से इतनी आशंका नहीं थी क्योंकि अर्जुन का बराबर थे तो जिन अथवा भीष्म पितामह किंतु भीष्म पितामह तो मारेंगे ही नहीं विशेष रूप से कर्म से पिछले भाष्यकार कहा है एभ्यो ममा पराजय शंक आसीत साचा अपगता हे भगवान जिन शूरवीरों से मुझे अभी तक पराजय होने की मन में एक संशय थी वो संशय निकल गया ये निश्चय हो गया सारे योद्धाओं को आपने पहले मारा इसी भाव को लेके बता रहे आगे का फल उच्चारण अमी च धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसै आया तो छब्बीसवीं श्लोक में बता रहे अमी चाह पुत्र सर्वे सहैव अवधिपाल संगे थी अमी बोल तो वे धृतराष्ट्र पुत्र धृतराष्ट्र के जो पुत्र है सौरव कौरव केवल वे मात्रा नहीं केवल कौरव ही प्रवेश हो रहे बात नहीं क्योंकि इसमें क्रिया तो है नहीं इसमें जो श्लोक है उसके साथ जोड़ना परमाण विषय वहां कौन ये जो दुर्योधन आदि है धृतराष्ट्र के पुत्र आम विषंति आपके अंदर प्रवेश हो गए केवल दुर्योधनादि प्रवेश हो रहे ये बात नहीं सर्वे सह एवा अवनिपाल संगे विशंति जितने भी उनके पक्ष में सह अवनिपाल अवनिपाल कहते अवनि का नाम है पृथ्वी उस पृथ्वी को पालन करने वाले रक्षा करने वाले है राजा तो इसलिए राजा को कहते अवनिपाल उनके संघ तो समुदाय के सहित एक नहीं सारे राजाओं के समुदाय के सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भी आपके अंदर प्रवेश हो रहे अच्छा ठीक है दुर्योधन है और अन्य राजा प्रवेश तो हो रहे किंतु भीष्म है द्रोणाचार्य है कर्ण है ये तो अतिरति है एक अधिरथी भी होते हैं महारथी भी होते हैं और रथी भी होते हैं तो ये जो बड़े बड़े अधिरथी है वे तो युद्ध सिद्ध करेंगे वो तो नहीं मरेंगे तब उत्तर दे रहे हैं भीष्मो द्रोण स्वेच्छा मरण अपने इच्छा के अनुसार वो मर सकता है क्योंकि शंतल ने उनको वर दिया था जब ही आपकी इच्छा हो आप मर सकते दूसरा कोई मार नहीं सकते ऐसा जो भीष्माचार्य देवव्रत उसका नाम था देवव्रत बाद में जो कठोर प्रतिज्ञा करने से उसका नाम हो गया भीष्म प्रतिज्ञा इसलिए भीष्म नाम पड़ा गंगा पुत्र था उस समय उसका देवव्रत नाम था कालांतर में जाके भीष्म बन गए और द्रोणाचार्य है ये कुंभज है अर्थात घट में इसकी उत्पत्ति मानते हैं चौथे अग्नि से उत्पन्न है योषित अग्नि नहीं क्योंकि पांच अग्नियों के द्वारा ये सृष्टि मानी जाती द्योलोक अग्नि पर्जन्य अग्नि तीसरी है पृथ्वी अग्नि चौथी अग्नि है पुरुष रूप अग्नि पांचवी अग्नि है योषा अग्नि ये जीव इस प्रकार का यहाँ से गया हुआ स्वर्गलोक में जाता है और भोगने के बाद वापस वर्षा में प्रवेश होता है बादल के द्वारा पृथ्वी में आता है तीसरे अग्नि तो पृथ्वी में आकर ये धान आदि में प्रवेश करता है और जो अन्न को पुरुष ग्रहण करता है पुरुष के अंदर आहुति होती और वही पुरुष का जो सूक्ष्म अंश में प्रवेश होकर बाद में श्रेय में प्रवेश होता है तभी तो पांचवें अग्नि के द्वारा जन्म होता है किंतु द्रोणाचार्य का वहाँ चार ही माना है कि वो शीत नहीं है दृष्टर्जुम्न और द्रौपदी देवी के वहाँ तीन ही है यज्ञ श्रेणी है ना यज्ञ में उत्पन्न यज्ञ में आहुति डाला ब्रीही में जीवता आहुति डालते हुए उसमें प्रकट हो गए पुरुष और योषित नहीं तीन अग्नि से अग्निशील तो इसलिए यहाँ द्रोणाचार्य है उसको भी कोई परास्त नहीं कर सकता उनको भी वर है जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक उसको कोई भी परास्त तो इसलिए वहां युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा उसका किसी ना किसी प्रकार से हाथ से जो अस्त्र है नीचे रखे तो भीम ने पहले कहा मैंने अश्वत्थामा को मार दिया मार दिया हटाहस किया तो द्रोणाचार्य ने विश्वास नहीं किया तो उन्होंने पूछा मेरा पुत्र मरा है ने बोला हाँ मरा है मैंने मार दिया मैं विश्वास नहीं करूंगा यदि युधिष्ठिर कहे तो मैं अवश्य क्योंकि तो युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो अजात शत्रु है तो युधिष्ठिर झूठ कैसा बोलेंगे भगवान ने कहा युधिष्ठिर आपको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि शास्त्र में कहा गया है धर्म के रक्षा के लिए झूठ बोल सकते पहले भी एक बताया था देवी भागवत में आया सत्यम न सत्या खलु यत्र हिंसा दयान्विता अनृतमेव सत्य सत्य वो नहीं है जिसके द्वारा दूसरे की हानि हो रही जिसका प्राण संकट हो रही सत्य नहीं है यदि दया है जिसका प्राण रक्षा कर रहे आप झूठ भी बोल रहे वो सत्य माना जाता है तो धर्म रक्षा के लिए आप झूठ बोल सकते हैं तो इसलिए वहां झूठ आधा झूठ बोला पूरा नहीं तभी जाके उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया था उसी समय में दृष्टद्युम्न ने उसको मार दिया था ऐसे जो द्रोणाचार्य है और श्रुत पुत्र अर्थात कर्ण तो श्रुत पुत्र अंततः केवल वे भी जाके आपके मुख में प्रवेश हो गए चलो दुर्योधन के सत्य वाले सारे प्रवेश हो रहे हमारे पक्ष ही नहीं हो गए ऐसी बात नहीं तथा अस्मदीय हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े योद्धा है मुख्य योद्धे जैसा अभिमन्यु है राजा विराट है ये सब बड़े बड़े योद्धा भी आपके अंदर प्रवेश हो गए इसलिए जय और पराजय का जो संशयता ये मेरा निवृत्त हो गया और भी बता है वो जो छब्बीसवा श्लोक का क्रिया यही जोड़ना ते वक्त्राणी त्वरमाण विशक्ति ते बोलो तब आपके मुख में वक्त्राणी बोलो तो मुख में त्वरमाण बोलो तो अत्यंत शीघ्र प्रवेश हो रहे कौन ऊपर बताए धृतराष्ट्र के पुत्र है सभी राजा लोग भीष्म द्रोण कर्ण और हमारे पक्ष के सभी उसमें विषंति मुख तो प्रविशंति और आपका मुख कैसा है मुख का विशेषण है दंष्ट्रा करारानी भया भयानकानी वक्तराणी ये मुख का विशेषण है एक तो मुख आपका दंष्ट्रा करारानी भयंकर बड़े बड़े दाड़ों से युक्त मुख है ऐसा मुख में सारे प्रवेश हो गए केचित विलग्न और उसमें केचित कुछ लोग आपके मुख में विलग्न विलग्न का मतलब है विचूर्णित हो रहे दंतांतरेशु मांसम इव भक्षितम जैसे कोई शिंगाली को मांस खाते हैं तभी दांत में कुछ अटक जाता है अथवा हम रोटी खाते हैं अथवा सब्जी कभी दांत के बीच में कुछ अटक जाते ऐसे ही आपके मुख में प्रवेश हुए कितने दिन विचूर्णित होकर कुछ दांत में अटक गए दशनांतरेशु दशन हो तो दांत हम दांत के बीच में मानो कुछ लटक रहे जैसा जैसा सब्जी तिनका जैसा संदृश्य ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತ ಬಂದು ಮೈ ದೇಕ चूर्णते उत्तमांगे संदृश्यामि उत्तमांग कहते हैं शिर को तो मूर्धा का नाम है उत्तम हमारा जो शरीर बना है अंग और उपांगों से बना है कुछ अंग है कुछ उपांग मानते हैं तो अंग और उपांगों से युक्त है स्थूल शरीर स्थूल शरीर में मुख्य पार्ट मानता है शिर को उत्तम अंग मानते हैं क्यों शरीर में कुछ लोग मानते दिमाग है विचार करते बोलते बुद्धि नहीं है करके वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं बुद्धि कहाँ रहती है इधर मानते मन किंतु वेदांत के अनुसार मन कहाँ रहता है हृदय में रहता है वैज्ञानिक लोग कहते इधर दोनों में अंतर आ रहे ना कोई अंतर नहीं ये तो मन का घर है ये ऑफिस है जैसा आप ऑफिस में जाके काम करते हैं सोने के लिए कहाँ आते हैं घर में आते हैं तो इसलिए सोते समय में वो अपना स्थान में आके सोता है काम करते समय यहाँ जाके काम करता है यहाँ भी है उसका इसलिए कोई विरोध नहीं सोते समय वहाँ नहीं रहता है हर ताकत तो इसलिए यहां बता रहे हैं उत्तम आंगे उत्तम अंग मतलब शिव चूर्णित हो गया जैसा मान लो गोलगप्पा को चट चट चाटते हैं वैसा ही गोलगप्पा के जैसा एकदम चूर्ण हो गए उत्तमांगे चूर्णित संदृश्य इस प्रकार सम्यक रूपेणा तो दिखाई पड़ रहे भान हो रहे उपलब्ध हो रही मैं देख रहा हूँ इसलिए मुझे कोई अभी चिंता नहीं जीतने का और वो जो मुख में कैसा प्रवेश हो रहे आपके मुख में भीष्मा है द्रोणा है दूतपुत्र है कर्ण है दुर्योधन आदि सभी राजद और हमारे पक्ष के उसके लिए सदृशता दे रहे उपम दे रहे इस प्रकार प्रवेश हो रहे अट्ठाईसवें श्लोक में बता रहे यता यता ये दृष्टांत है तथा है दाष्टांत दृष्टांत कहते हैं वादी प्रतिवादी निर्णित अर्थ वादी और प्रतिवादी दोनों ने माना है इसको दृष्टांत कहते हैं उसी दृष्टांत को लेकर जिसको हम समझा रहे इस तत्व को दाष्टांत कहते जैसा जगत मिथ्या है बोलते प्रपंच मिथ्या दृश्य प्रपंच को आपने पक्ष बना दिया मित्य को साध्य बना दिया हेतु तो बना दिया दृश्य जैसा इस पहाड़ ने पर्वत पक्ष बना दिया मान क्यों धूमत्व धूमत्व हेतु के द्वारा इस पर्वत में आप अग्नि सिद्ध कर रहे हैं तो जिसमें सिद्ध करते आप उसको कहते पक्षा जिसको सिद्ध करना चाहते हो साध्य है जिससे सिद्ध करना चाहते हो हेतु है जिसमें सिद्ध करना है वो पक्ष है जिसको सिद्ध करना चाहते हो साध्य और जिससे सिद्ध करना चाहते हो हेत એટલે પર્વત પક્ષે હોયા અગ્નિ હોયા સાતિયા ધુમ હોયા કે એ સિમપ્રતરા પંચા હો ગયા હે મિલ ગયા ક્યું ત્રિશ્ય દ્વાર આપકો દિશતાન દેના પડેગા દેસા સ્વપ્નાવા atofada jo sapna abhi ke sapna hi drishya hai ke सब लोग देखते हैं किंतु मिथ्या है द्वैत भी मानते हैं अद्वैत भी मानते हैं तो इसलिए जहाँ जहाँ दृश्यत्व है वहाँ वहाँ मित्यत्व इसलिए प्रपंच भी मिथ्या है ये अनुमान से सिद्ध किया जाता है तो इसलिए यता हो गया ये दृष्टांत तथा हो गया दान तो बोले यदा नदी नाम जिस प्रकार बहने वाले जितने भी नदियाँ बहवो एक नहीं बहुत से अम्बु कहा अम्बु कहते जल इसलिए कमल का नाम है अम्बुजा कमल को कहते हैं अम्बुजा जलज जलज भी कहते हैं जल में उत्पन्न होने से जलज अम्बु में उत्पन्न होने से अम्बुजा तो इसलिए अम्बुजा जैसा बहाने वाले नदियों के बहुत से अम्बुज बोलते तो जल प्रवाह समुद्र में वह अभिमुखांतरवंती समुद्र के समूह ही दौड़ते जितने भी नदियां हैं निरंतर समुद्र के ओर ही दौड़ते क्यों कारण जैसा हम कोमल पत्थर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आता है कोई पढ़ने वाले तो ग्रेविटेशन कहेंगे गुरुत्वाकर्षण कहेंगे गुरुत्वाकर्षण कहेंगे ना नहीं आप पत्थर जो फेंका था कहाँ से अलग किया था प्रतिविषय तो प्रतिविषय वो अलग होना नहीं चाहता है अपना मूल स्वरूप में आ रहा है देखिए अग्नि को आप कितने भी जला करके दबा दीजिए ऊपर क्यों जाता उसका मूल है सूर्य है उसके ऊपर जाना चाहते हैं जल को कितना भी आप बांधते रखिए उनका मूल समुद्र है वहाँ जाना चाहते हैं वैसे ही जीव को आप जागृत और स्वप्न में कितना भी बांध के रखिए अपना मूल स्वरूप सुषुप्त में जाना ही चाहता है हरेक वस्तु अपना मूल के ओर जाना चाहते हैं ये नियम है प्रकृति इसलिए जितने भी जो नदियां हैं बहुत से जल प्रवाह बड़े बड़े वेग से बहते हुए समुद्र में ही सम्मुख होते हैं तो उसके ओर जाते ये दृष्टांत द्रवंती बोल तो बह रहे निरंतर ये दृष्टांत तथा तव अमी नरलोक वीरा तव विशंति वहां उसी प्रकार अमी बोल तो वेग नरलोक वीरा कौन है वो धृतराष्ट्र के पुत्र और सभी राजा लोग भीष्म है द्रोणाचार्य है सूत पुत्र है और पांडवों के पक्ष वाले ये सब हो गए नरलोक वीरा ये सब कहाँ प्रवेश हो रहे तवा विशंति तवा मतलब जिस प्रकार समुद्र में नदियां निरंतर अग्रसर होके जा रहे ऐसा आत्मरूप ज्ञान रूप सागर आपके अंदर ही जा रहे प्रवेश कर रहे वक्त्राणी कहा आपके मुख में तवहा वक्त्राणी अभिज्वलंती अर्थात आपके जो प्रज्वलित प्रकाशमान मुख है ये मुख का विशेषण है आपका जो मुख है अत्यंत प्रज्वलित पीछे बताया था अग्नि के समान ऐसा अग्नि के समान जो प्रज्वलित मुख है उसमें सारे प्रवेश हो गए बड़े बड़े था एक दृष्टांत दिया दूसरा एक दृष्टांत दे रहे और एक दे रहे इस प्रकार यथा प्रदीप्तम ज्वलनम जिस प्रकार प्रतिबिंब प्रकाशमान दीपक बारिश के समय में अथवा बारिश के बाद में जहाँ धान होते आप दीपक जला दीजिए कितने कीड़े आ जाते बहुत बहुत कीड़े आते दीपक को देखकर क्योंकि तो वो दीपक उसको आकर्षित करके मृत्यु का कारण इसलिए वहां बता दिया योगवासी उरंग मातंग पतंग मेना भृंग हता पंचविदेव पंच एक प्रमादम सकतम न हन्यते यशेव्यते पंचविदेव पंच अरे साधक अरे मन सावधान हो इन एक एकों के बीच में कुरंगा कुरंग बोल तो हरे कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना एक एक पीछे मत तेरे पास पांचों है तुम कैसा बच सकते हैं योग योग वासिष्ठ में एक ऋषि विचार कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं प्रदीप्त गगनम पतंग मिशन जो प्रज्वलित दीपक है उस दीपक का रूप को देखकर आकर्षित होकर पतंग निरंतर उसमें प्रवेश हो रहे किसके लिए नाशाया अपने नाश कर देगी समृद्ध वेगा धीरे से नहीं पूरे ताकत से दौड़ रहे अब कितना भी हटा दीजिए यदि लालटन जला रहे अंदर तो नहीं जाएगा उसमें शीशा को टक्कर मारते रहेगा जोर जोर से आकर तो इसलिए बोले समृद्ध वेगा विशंति अत्यंत वेगपूर्वक अपने नाश के लिए वो जो पतंग है उस अग्नि में विषन के हो तो प्रवेश हो रहे ये दृष्टांत है तथैवा उसी प्रकार नाशाया अपने नाश के लिए लोक ये सारा जगत लोक हो तो सारा जगत विशंति आपके मुख के अंदर प्रवेश होगा तवापि वक्रा समृद्ध वेगा विशंति सारा जो लोक है प्राणी है अत्यंत वेग पूर्वक अपने मृत्यु के लिए आपके मुख में प्रवेश हो रहे हैं इनमें योद्धा भी प्रवेश हो रहे हैं तो सारे लोग प्रवेश हो रहे आप क्या कर रहे हैं आप उसका स्वाद ले रहे हैं मस्ती से ये बता रहे तीसवें श्लोक में लेरीयसे ग्रसमानः ग्रसमानः लेरीयसे अर्थात मुख में जो प्रवेश हुए हैं उसको आप लेरीय से मतलब अर्थात चाट रहे हैं आस्वादन ले रहे हैं ग्रसमान हो तो प्रवेश हुए जितने भी जैसा हम लोग चटने हैं आचार को चाटते हैं वैसा ही भगवान मस्त से उसको चाटते हैं समंता लोकान समंता लोकान लोग तो जितने भी समस्त लोगों एक नहीं सारे जो लोग है उन लोगों को क्या उसने बोल रहे समन्ता लोकान समग्रान वदनेर ज्वलब्धि वदनेर वो तो दे दीप्यमान द्वारा अत्यंत प्रज्वलित अग्नि के समान अपने मुख के द्वारा अपने ओर आए हुए जितने भी जीव है समस्त लोग हैं निकलते हुए कुछ निकल रहे कुछ चाट रहे देखिए देखो तो चाट रहे तेजो पूर्ण जगत समग्र और जो सारा जो जगत है समग्र जगत सारा विश्व है अपने तेज से अपना आभा से अपना प्रकाश से तो तेजो विराट जगत समग्र भाषा बोल तो आभा तेज किसका तबाह उग्रह वो भी सामान्य नहीं भयंकर तेज प्रचंड तेज तो प्रचंड जो आभा है प्रचंड तेज है वो समग्र जो तेज के द्वारा जगत में आप व्याप्त है प्रतपंति विष्णु प्रथम कोटवाणी प्रथम का मतलब है अत्यंत जो प्रतापमंदो व्याप्त रूप से फैला है आपका तेज जगत में इस प्रकार अर्जुन भगवान का जो विश्वरूप और विश्वरूप का होने वाला जो फल है वो बता दिया आगे का विचार हम लोग ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णा